स्मरणम् प्रारब्धमानमन्त्रस्य आज यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के शेष नव मंत्र का नव मंत्रों का पाठ होगा ओ अन्नम Hare Rama. अस्मिन परमात्मनि ज्ञाने ज्ञाने धर्मे वा सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मवत् एव अभूत भवन्ति अत्र वचक एक एकवचनम् विजानकः विशेषेण समीक्षमाणस्य तत्र तस्मिन् परमात्मने स्थितस्य कः मोहः मूढावस्था कः शोकः परितापः एकत्वम् परमात्मा अद्वितीय द्वितीयत्व अनुपश्यत अनुकूलन योगाभ्यासेन साक्षात द्रष्टु भाषा हे मनुष्यो यस्मिन जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान अथवा धर्म के विषय में विजानतः सम्यक ज्ञाता जन के लिए सर्वाणी सब भूतानी प्राणी आत्मा अपने आत्मा के समान एवं ही अभूत होते हैं तत्र उस परमात्मा में विराजमान एकत्व परमात्मा के एकत्व को अनुपश्यत ठीक ठीक योगाभ्यास के द्वारा साक्षात देखने वाले योगी जन को कह क्या मुह मुह और कह क्या सो क्लेश अभूत होता है हवा जो विद्वान संन्यासी लोग परमात्मा से संचालित प्राणी मात्र को अपने आत्मा के समान समझते हैं अर्थात जैसा आत्मा भी चाहते हैं वैसे अन्य प्राणियों के साथ बर्ताव करते हैं एक अद्वितीय परमात्मा की शरण को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें मोह शोक लोह आदि दोष कभी भी प्राप्त नहीं होते और जो अपने आत्मा को ठीक ठीक जानकर परमात्मा को जानते हैं वे सदा सुखी रहते हैं इसी वेद स्वाध्याय अभी आपने वेद मंत्र की व्याख्या सुनी कोई भी व्यक्ति से तैरना चाहता है छूटना चाहता है इस संसार में मनुष्य जन्म को पाकर के व्यक्ति बंधनों से कलेशों से दुखों से छूटना चाहता है कैसे छूटे वो वो कौन सी अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति समस्त कलेशों से छूट जाता है इस बात को वेद में कहा कि यस्मिन सर्वाणी भूतानी इसका अर्थ है जिस ईश्वर के जान लेने के पश्चात योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार कर लेने के पश्चात आत्मेवाभूत अपनी आत्मा के तुल्य दिखते हैं वह योगाभ्यासी ये जानता मानता है कि जैसे मैं सदा सुख चाहता हूं क्लेशों से बचना चाहता हूं उसी प्रकार सारे प्राणी होने चाहिए योगाभ्यास में गति रखने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेता है जो लोग उसका बुरा चाहते हैं करते हैं उनका वो बुरा नहीं चाहता कारण के अथवा अपने स्वार्थ से लोग योगी का बुरा चाहते हैं करते हैं और इतना होने पर भी वो उनका बुरा नहीं चाहता पर किसी को भ्रांति न होवे तो इसके लिए एक बात समझ लेनी चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महान योगी थे ऐसा हम मानते जानते और उनके ऊपर अज्ञानी स्वार्थी बुरे लोगों ने बार बार आक्रमण किए इतना होने पर भी उन्होंने किसी का बुरा तो नहीं चाहा परंतु अपनी रक्षा जरूर की किसी को ये भ्रम न हो कि योगी का दुनिया बुरा चाहती है और वो उन आक्रमणों से अपने आप को बचाना चाहता है और उसका अर्थ ये ले लिया जाए कि ये व्यवसाय बुरा चाहता है ऐसा अर्थ नहीं करना ये भी ऐसा ही चाहता है ऐसा नहीं हमारे आंख नाक हाथ पैर बुद्धि विद्या भगवान ने इसलिए दी है कि आक्रमण से रक्षा हमारी अपने आप करें अब हमारे ऊपर जो आक्रमण करेगा उससे तो बचने का उपाय करना हमारा धर्म है और उसको कोई ऐसा नहीं समझे कि ये व्यक्ति भी जैसा दूसरा बुरा चाह रहा है ये भी वैसा ही बुरा चाह रहा है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समय समय पर अपनी रक्षा तो की पर इतना होने पर भी किसी का बुरा नहीं चाहे इतना ही नहीं बुरा चाहने वाले का भी भला ही चाहते हैं उनके चाहने का रूप बदलता है किसी स्वार्थी व्यक्ति को आक्रमणकारी को तो रोकेंगे और कहेंगे इसको रोको और था योगी इसको दंड दे दो क्यों ये बुराई से बच जाएगा इस दृष्टि से कहेंगे इसको दंड दो इसको बुराई से बचा तो अपनी रक्षा करना आक्रमणों से बचना ये बुरा चाहने वाले की बाती बुरा करना नहीं है वो अपना धर्म कर्तव्य है इसकी रक्षा करना पर कितना कठिन है ये एक विद्वान अच्छे विद्वान भीमसेन नाम के स्वामी दानजी सरस्वती के पास रहते थे और यदि आप उनकी व्याख्या की हुई को पढ़ें उपनिषदों की व्याख्या नौ की की है पुस्तक है वो भाषा ऐसा प्रतीत करवाती है उसका अंश बहुत सा ऐसा झलकता है जैसे स्वामी दान बोल रहे हैं भाषा शैली और वो व्यक्ति अंततो गत्वा स्वार्थ में आकर के अंत में स्वामी जी के विरोधी बने अनेक विद्वान महर्षि दान के शत्रु बन बैठे अंततो गत्वा अपने स्वार्थों के कारण अज्ञान के कारण पर स्वामी दान सरस्वती ने कभी उनका बुरा नहीं कहा ये कितना कठिन कार्य है मैंने ब्रह्मचारियों को ये सिखाया पढ़ाया यदि योगी बनना हो तो इतनी हिम्मत जरूर कर लो इतना स्तर जरूर बना लो कितना आप पढ़ाओ लिखाओ तन लगा दो एक ब्रह्मचारी को विद्वान बना दो और वो आपका शत्रु बन जाएगा तब भी उसका बुरा नहीं जाना है तब भी उसे बैर नहीं करना है तब तो योगी बन सकते हो अन्यथा योगी नहीं हो सकते कुछ समझ में आया नहीं आया जो व्यक्ति हमसे संबद्ध ही नहीं है वो हमारा शत्रु बन जाए तो कोई बुरा नहीं दिखता है वो किसी मत वाला है स्वार्थी है पर आश्चर्य तो यहां आकर के होगा एक व्यक्ति को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बना दो तन बन धन लगा दो वो व्यक्ति अंत में हमारा ही शत्रु बन जाए अब हम उससे शत्रुता न करें हम हाँ, ही उसके दुख न चाहें ये कैसी कितनी कठिन बात है पर योगी को तो ऐसा करना पड़ेगा योगी बनने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा आपने किसी की सेवा ही नहीं की किसी के लिए तन मन धन ही लगाया वही भी आपका विरोध करता है आरोप लगाता है झूठ बोलता है तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा और वो जो मित्र है बेटे पुत्र की स्थिति देखो आप वो जो शत्रु बनता है उस व्यक्ति का जो अत्यंत उपकार करने वाला निष्काम भावना से तब कैसे सहन करोगे उसके प्रति तो आग लगेगी मन में उस आग को रोकना कोई ज्यादा बात नहीं है पर योगा वैसी बिल्कुल उस आग को उभर नहीं देता तो आप भी याद कर लो और ब्रह्मचारी भी याद कर लो ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी योगी बनने के लिए नहीं तो योगी कोई नहीं बन सकता ये स्मिर सर्वाणी भूतानी आत्मेय भूत भी जाने का सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के तुल्य भला चाहता है और ये कौन व्यक्ति है बीजानता विशेष ज्ञानी है ये व्यक्ति विशेष ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कर सकता है फिर कहा कि ये कैसी अवस्था में रहता है तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्य है कहते हैं कि वहां पर मोह अविद्या नहीं होती शोक नहीं होता एक परमात्मा को देखता है ईश्वर के निकट जाने से ईश्वर का साक्षात्कार करने से ईश्वर को पा लेने के पश्चात अविद्या जो है वहां नहीं रहती शोक कलेश नहीं रहते लोभ नहीं रहता क्रोध नहीं रहता काम नहीं रहता ये सारी चीजें विदा होती हैं ईश्वर को जाने बिना इनको जीतना हटाना असंभव बात है इसलिए अपने जीवन में हम ये समझें और जानें कि इस मनुष्य शरीर को पाकर के ईश्वर की प्राप्ति करना और दूसरों को भी करवाना ये हमारे दो ही काम होते मनुष्य जीवन का सार्थक होना मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर को पा लेना और दूसरों को प्राप्त करवा देना इसमें और किसी में भी कोई माने नहीं माने जाने नहीं जाने चारों वेद दर्शन उपनिषद लाखों ऋषि होते आए सबने एक ही निर्णय लिया उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का वर्णन है ईश्वर का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया गया वहां उपनिषद का भाव आपको सुनाता हूं केन उपनिषद ईश केन कर्त है केदल वेदी अथ सत्यम अस्ती हे व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में ही इसी जीवन में ही अवेदी यदि ईश्वर को जान लिया अथ सत्यम अस्ति सत्य है उचित है सफल मैं चेदी है वेदित यदि भगवान को इस मनुष्य शरीर में जीते जीते नहीं जाना महती विनष्टि तेरा विनाश हो गया बस ये अंतिम निर्णय देते हैं आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान स्वामी ब्रह्म मुनि जी हुए उनसे मैंने भी संन्यास की दीक्षा ली थी उनसे मैंने सांख्य दर्शन भी पढ़ा गुरुकुल जिस में पढ़ाने आते थे तो उन्होंने लगभग साठ सत्तर ग्रंथ लिखे निरुक्त दर्शनों के भाष्य हिंदी में संस्कृत में उनका जीवन सारा बहुत तपस्या का जीवन रहा बाल्यावस्था से लेकर के इतनी बड़ी अवस्था तक पढ़ते पढ़ाते रहे उत्तम से उत्तम काम करते रहे एक उनका जीवन है जीवन चरित्र है वो पढ़ के देखेंगे आप उसका थोड़ा सा भाग सुनाता हूं उन्होंने अपना दोष माना बहुत बड़ा गुण है ये उनका दोष माना है जीवन चरित्र में लिखते हैं मैंने सब उत्तम काम किए जीवन भर उत्तम काम में करता रहा अंग उपांग आदि को पढ़ाता पढ़ता रहा व्याख्या करता रहा और उपासना भी कुछ कुछ करता रहा इतना समय नहीं लगाया पर मैंने सोचा यह था कि जब मेरी अवस्था साठ जो लगभग हो जाएगी सड़सठ हो जाएगी तब मैं विशेष योगाभ्यास करके ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा ये लिखा हूं सड़सठ सड़सठ अवस्था हो जाएगी तब मैं करूंगा और वो कहते और मेरे पैर में इतना दर्द है ईडी में इतना दर्द है मैं बैठ नहीं सकता उपासना कर नहीं सकता पश्चात सात और चेतान ये लिखा इतना विद्वान इतना ग्रंथों का लेखक शुभकाम करता हुआ भी उपासना भी करते थे पर ब्रह्म को नहीं जाना और यही उपनिषद का वाक्य अपनी बात के ऊपर लिखा ये थे वेदी अथ सत्य मत नहीं है वेदी तुम्हारी तो दृष्टि उन्होंने यह दोष स्वीकार किया कि मैंने इतनी भयंकर भूल कर दी इतने शुभ करने पर भी कर्म करने पर भी इतनी इतना परोपकार करने पर भी उसने ब्रह्म को नहीं जाना विशेषियों का जांच नहीं किया अपनी भूल गलती मानता है विद्वान कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर अब मैं निराशा मैं हूं पश्चाताप करता हूं और चेतावनी देता हूं लोगों को तीन बात लिखनी तो कोई भी व्यक्ति धनवान हो विद्वान हो बलवान हो राजा महाराजा कोई भी हो सारे काम साधन हो सकते हैं साधे नहीं होंगे उत्तम से उत्तम विद्या पढ़ो अच्छी बात है भौतिक विज्ञान पढ़ो अच्छी बात है आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ो अच्छी बात है धनवान बनो अच्छी बात है बड़े बड़े विद्यालय खोलो अच्छी बात है सब अच्छे अच्छे काम करो और ईश्वर को जानो तो ठीक है नहीं तो सारे व्यक्ति बेकार है गधे की तरह भाग जाना ये किसी काम के नहीं लक्ष्य पूरा जिससे नहीं होता उसके लिए जीवन लगाना मूर्खों का काम है ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते वो कहते लक्ष्य जो हम उसके लिए जीवन लगाएंगे चलो लक्ष्य की पूर्ति करेंगे हम और जो ज्ञान में फंसे हैं वो मूर्खता के लिए जीवन को खपाते जो उद्देश्य नहीं है उसको उद्देश्य मान के भागते इसलिए वेद मंत्र के आधार पर ये जानना चाहिए कि हम योगी बन के विद्वान बन के ईश्वर को जाने ईश्वर के जानने से ही हमारे कलेश कट जाएंगे काम करो तो लोग मोह शत्रु दूर हो जाएंगे और हमें अपने जीवन से दुनिया को कुछ देन दे के जाएंगे अपना जीवन सफल होगा और दूसरों को हम कुछ चीजें दे जाएंगे ऐसा जानना चाहिए अब इसको यहीं पर विराम दें